न कुछ रिस्पॉन्ड करने वाली थी लेकिन तभी सामने से सौरभ आता हुआ दिखाई पड़ा सौरभ ने पहले भी ट्रेनिंग कैंप में विक्रांत और नैना की लड़ाई देखी थी और अभी जब उसने नैना की गुस्से से लाल आंखों को देखा तो फिर वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया अरे विक्रांत भाई मैं आ, मुझे कुछ काम था आपसे लेकिन कोई नहीं कोई नहीं मैं बाद में आता हूँ अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है इतना कहते हुए सौरभ वहां से दूसरी तरफ मुड़ गया हड़बड़ाहट के चलते सौरभ सामने से आ रही एक लेडी ऑफिसर से भिड़ गया वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा क्या I am sorry I am sorry Saurabh जल्दी से उठ खड़ा हुआ और फिर फटाफट वहाँ से आगे निकल गया सौरभ के बीच में आ जाने की वजह से नैना का मूड भी थोड़ा चेंज हो गया अभी वो विक्रांत पर अटैक करने का प्लान चेंज कर चुकी थी फिर से चुपचाप आगे बढ़ने लगी विक्रांत भी उसके पीछे पीछे चुपचाप चल पड़ा कुछ ही कदम चलने के बाद सामने डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली खड़ी दिख गई उन्हें पहले से ही खबर मिल गई थी कि टीम लीडर के तौर पर एक नई ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आ रही थी मिताली ने आगे बढ़कर नैना का स्वागत किया और उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया इसके बाद मिताली नैना का इंट्रोडक्शन बाकी टीम मेंबर से करवाने के लिए आगे बढ़ गई इस वक्त सभी टीम बी के ऑफिसर भी टीम ए के ऑफिस में बैठे हुए थे और यहाँ केस को लेकर खास मीटिंग चल रही थी टीम लीडर मंजू की मौत के बाद अब टीम हेड पुष्कर ही हेड के तौर पर काम कर रहे थे और टीम ए के leader Chetan Rai team B की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे इस वक्त चेतन व्हाइट बोर्ड के पास खड़े होकर सभी ऑफिसर्स को केस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन समझा रहा था नैना जैसी बेहद खूबसूरत लेडी ऑफिसर को अपने सामने देखकर उसने प्रेजेंटेशन देना बंद कर दिया और बड़े ध्यान से नैना की तरफ देखने लग गया यहाँ बैठे सभी एजेंट्स की नजर इस वक्त नैना पर ही आकर टिकी हुई थी deputy bureau chief Mitali madam ने सभी से नैना का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा ये नैना ग्रेवाल है पहले ये पनवेल ब्रांच की कैप्टन के तौर पर काम करती थी अब ये हमारे साथ मिलकर टीम बी की लीडर के तौर पर काम करेंगी नैना का इंट्रोडक्शन सुनकर सौरभ हड़बड़ाहट के कारण कुर्सी से गिरकर नीचे आ गया लेकिन फिर वो तुरंत ही किसी तरह से खुद को संभालते हुए फिर से बैठ गया डीएन नगर पुलिस ब्रांच के लिए जितना ज्यादा shocking team leader Manju Sachdeva का मर्डर होना था उतना ही शॉकिंग नैना का नया टीम लीडर बनकर आना था दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी खबर आग की तरह फैलती है फिर भी नैना के यहाँ पर आने की किसी को भनक तक नहीं लगी थी नॉर्मल छोटे ऑफिसर की बात छोड़ो यहाँ तो किसी सीनियर ऑफिसर को भी पता नहीं था कि इतनी जल्दी कोई मंजू की जगह लेने के लिए आ रहा है टीम लीडर चेतन हो या पुष्कर हो या फिर डिप्टी चीफ मिताली ही क्यों ना हो किसी को भी नहीं पता था कि पनवेल ब्रांच के किसी ऑफिसर को टीम बी का लीडर बनाकर भेजा जाएगा मिताली को भी अभी थोड़ी देर पहले जब ब्यूरो चीफ अमृत ने फोन करके बताया तब पता चला कि नैना यहाँ आ रही है पिछले दिनों जब मंजू का मर्डर हुआ तो बाकी ऑफिसर्स को यही लग रहा था कि या तो संगीता को टीम बी का लीडर बनाया जाएगा या फिर टीम बी के ही किसी एजेंट को प्रमोट करके लीडर बना दिया जाएगा इसलिए नैना का अचानक लीडर बनकर आना यहाँ पर हर किसी को असहज कर रहा था और सबसे बड़ी बात नैना किसी दूसरी ब्रांच पर कैप्टन के तौर पर काम कर रही थी लेकिन यहाँ अब उसे टीम लीडर बनाकर भेज दिया गया ये बात लोगों के गले से नहीं उतर रही थी अब चाहे किसी को नॉर्मल लगे या ना लगे लेकिन नैना तो अब टीम बी की लीडर बन चुकी थी तो अब उन्हें इन सब बातों पर ध्यान देने के बजाय काम पर फोकस करना होगा डिप्टी चीफ मिताली द्वारा नैना का इंट्रोडक्शन दिए जाने के बाद नैना ने भी फॉर्मल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर वो वहाँ पड़ी एक चेयर लेकर सभी एजेंट्स के बीच में जाकर बैठ गई मानो वो बहुत दिनों से इसी ब्रांच में काम कर रही हो इस वक्त व्हाइट बोर्ड पर टीम ए के लीडर चेतन राय उन्नीस के किडनैपिंग केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे मंजू की मौत के बाद इस केस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी ब्रेक लग गई थी हालांकि साइड में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही थी चेतन जिस व्हाइट बोर्ड की मदद से केस को एक्सप्लेन कर रहा था वो टीम लीडर मंजू का ही व्हाइट बोर्ड था उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मंजू द्वारा ही लिखी हुई थी और उन्हीं बातों को चेतन दोबारा से सभी पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में चल रही थी जैसा विक्रांत ने मंजू को सजेस्ट किया था बीते तीन चार दिनों में जब तक विक्रांत ऑफिस नहीं आया था उस बीच पुलिस ने करजत में मौजूद माइंस के मालिक गजेंद्र ठाकुर के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी पुलिस ने योगेंद्र के कंप्यूटर से सारा डेटा कलेक्ट कर लिया था और उसमें से माइंस का कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मिल गया था वहां से पता लगा कि गजेंद्र ने उस चांदी की माइंस को आज से लगभग तीस साल पहले ही खरीद लिया था और जब उसने माइंस में खुदाई चालू की थी तो उसे काफी फायदा भी हुआ था उसने इस माइंस से बहुत पैसे कमाए थे और जब साल उन्नीस में बच्चों की किडनैपिंग हुई तो उस वक्त गजेंद्र काफी अमीर बन चुका था यानी कि विक्रांत को पहले जो गजेंद्र के ऊपर शक था अब वो खत्म हो चुका है इस हालात में इस बात का बहुत कम चांस है कि गजेंद्र का उस किडनैपिंग केस से कुछ लेना देना रहा हो अब चूंकि गजेंद्र के ऊपर से शक खत्म हो गया है तो अब विक्रांत के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है हो सकता है कि मंजू के मर्डर केस का संबंध उस किडनैपिंग केस से हो इसके लिए मंजू की मौत की सच्चाई को सामने लाना होगा यानी विक्रांत ने निश्चय कर लिया है कि मंजू के मर्डर केस की सच्चाई सामने लाने के लिए साजिद को इन्वेस्टिगेट करना होगा इन्वेस्टिगेट ही नहीं बल्कि साजिद का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करना होगा तभी सारी बात सच सच सामने आ सकेगी अब तक चेतन ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और मीटिंग ओवर हो चुकी थी मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत ही टीम बी के सारे मेंबर्स अपने ऑफिस की तरफ चले गए उनकी नई टीम लीडर नैना ने तुरंत ही टीम बी के सभी मेंबर्स की एक शॉर्ट मीटिंग बुलाई ताकि वो इस केस के बारे में अपनी समझ और बेहतर कर सके साथ ही सभी टीम मेंबर्स को उनके काम समझा सके इधर टीम ए के ऑफिस में बिल्कुल सामान्य माहौल था विक्रांत जाकर अपने केबिन में बैठ गया और इस केस के बारे में गंभीरता से विचार करने लगा तभी टीम ए के कुछ ऑफिसर्स उसके पास आए और विक्रांत से दोबारा से नौकरी ज्वाइन करने की खुशी में ट्रीट मांगने लगे लेकिन विक्रांत इस वक्त केस के बारे में सोच रहा था और पिछले कुछ दिनों से उसने कोई काम भी नहीं किया था इसलिए वो थोड़े टेंशन में था सो तो उसने अभी किसी भी तरह का ट्रीट देने से मना कर दिया उसने अपने सभी साथियों से क्लियर कह दिया कि वो अब ये किडनैपिंग केस सॉल्व हो जाने के बाद ही कोई ट्रीट देगा अभी विक्रांत अकेले में बैठकर कुछ सोच रहा था यहाँ तक कि उसने आज लंच भी नहीं किया कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने साजिद का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करने का निश्चय किया अपने केबिन में बैठे बैठे ही उसने सुनिधि को बुलाकर उसे साजिद को इंटेरोगेट करने का इंतजाम करने के लिए कहा इसके बाद विक्रांत तुरंत ही वहां से उठकर साजिद से मिलने के लिए निकल पड़ा रास्ते में विक्रांत के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी मैं इस केस में काम करने की कोशिश करता हूँ तो इतफाकन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और मुझे रुकना पड़ जाता है इसके पीछे कहीं कोई वजह तो नहीं है मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है विक्रांत अब साजिद के जेल में पहुंचा तो उस वक्त ठीक साढ़े बारह बज रहे थे वो तुरंत ही जेल के इंस्पेक्टर के पास गया और उनसे साजिद को इंटेरोगेशन रूम में लाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने बताया कि अभी साजिद का इंटेरोगेशन चल रहा है कोई उससे पूछताछ कर रहा है साजिद का इंटेरोगेशन चल रहा है कौन है अब उससे कौन पूछताछ कर रहा है विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा उसे पता था कि साजिद की इंटेरोगेशन पूरी हो चुकी है इसलिए उसे अभी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पूछताछ कर रहा है team leader Naina Grewal madam jail inspector ने जवाब दिया